पूछा जा सकता है जो वस्तु का हमको सामान्य ज्ञान है अनेक अधिक अधिष्ठानों का ज्ञान था और उनमें से कौन सा आप पूछ रहे हैं किस अधिष्ठान के ज्ञान होने पर कि कोई कह रहा है परमाणु है भाई सब सकल जगत का अधिष्ठान कोई कहता है सतरजतमा का प्रकृति है कोई कुछ कोई कुछ कह रहा है ना तो इसीलिए अनेक जो मत उनके अनुसार से अनेक अधिष्ठानों का ज्ञान है उन अनेक अधिष्ठान से कौन सा अधिष्ठान के ज्ञान होने पर ऐसा कस्मिन कहने का प्राप्त लग रहा है और ये उचित नहीं है ये पूर्व पक्ष कहता है अविदित ही कस्मिन प्रश्नो अनुपन्न कि तो ये अविदित तत्व है यदि आप इस चीज को जानते नहीं है उस विषय में कस्मिन इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता जब अनेक विदित हो उन अनेकों में से एक को जानने के लिए आप कस्मन प्रश्न पूछ सकते विदित के मामले में ही सामान्य रूप में विदित था कोई परमाणु का कोई जो है प्रकृति कह रहा है कोई क्षण विज्ञान कहता है तो ये अनेक जो कथन हो रहा है कोई कहे स्वाभाविक तो उनमें से किस में ऐसा किसके किसको अधिष्ठान रूपेण जानने पर ऐसा प्रश्न तभी होगा जब विदित हो अनेक प्रकार के अधिष्ठान प्रेरित के मामले में कस्मिन इस प्रकार का प्रश्न उचित नहीं होता और ये क्या होना चाहिए प्रश्न कि मस्त तक प्रश्न युक्त तो युक्त ही होता है कि मस्ती ऐसा प्रश्न पूछना ही उचित होता है सिद्ध ही अस्तित्व क्यों क्योंकि कस्मिन फिर कहा पूछा जाएगा पूर्व पक्ष स्वयं व्यवस्था दे रहा है सिद्धे ही अस्तित्व कस्मित ये पहले से वस्तु सिद्ध है तब उसको कह सकते हैं ये कहा है सिद्ध वस्तु के बारे में पूछा जाए या किसमें है जैसे यथा कस्मिन यम नीति जैसे लोग व्यवहार में होता है भाई किसमें इसको डालो क्यों अनेक संभव है इस बर्तन में डालो कि उस बर्तन में डालो कि किस बर्तन में डालो किसमें दोनों वस्तु सिद्ध है कस्मिन प्रश्न में क्या होता है अधिष्ठान भी सिद्ध वस्तु है और आधे वस्तु सिद्ध वस्तु है अब दूध आ गया कहा डाला तो आप यही तो पूछेंगे भाई एक लीटर ले रहे हैं तो उसी हिसाब से बर्तन को ले जाओगे दो लीटर ले रहे हैं तो छोटे बर्तन में कैसे आएगा तो कस्मिन निधेयम ये प्रश्न तब संभव है जब हमें अनेक प्रकार का अधिष्ठान उपलब्ध है और तत्सादी अधिष्ठान वस्तु सिद्ध है लेकिन यहाँ तो ऐसा श्यालों को पता ही नहीं था इसलिए इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए इति अक्षर बाहुल्यात आयास भिरुत्वा स्पष्ट समझते कसन विज्ञा दे कहते दो बात है क्योंकि एक तो अक्षर बाहुल्यात पहला हेतु तो दिए इस प्रकार की आप आशंका करें ही नहीं क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात है अस्तित्व प्रश्न गर्भित है ये भी ना किम अस्तित्व है ना और कस्मिन नु सीधे है या अस्थि है नहीं तो इसमें भी अस्थि गर्भित है संभवत्य कश्मीर विज्ञात सर्वविज्ञातम भवती यहाँ पर भी जो है अक्षर बाहुल्या कला हेतु दिया अक्षर बाहुल्या किम अस्थि कस्मिन नु में अक्षर की अधिकता है इसलिए कुछ अधिक अर्थ बोलना बोलने की अपेक्षा कर रहे यह लौकिक कार्य कारण भाव रूप अधिष्ठान भी अपेक्षित नहीं है लौकिक कार्य कारण भाव भी अपेक्षित नहीं यह अनेक अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक एक अधिष्ठान की शंका भी नहीं क्योंकि अनेक अधिष्ठान है ही नहीं अमेव अद्वितीय ब्रह्मरूपी अधिष्ठान को जानने के बाद कसम कहा पूछेगा वो अनेक अधिष्ठान हो तब तो उसने कसिन पूछना आपके अनुसार ठीक था लेकिन अनेक है ही नहीं एक है वो यही तो उसने सुना दूसरा से यही तो पहला पक्ष अनुवासकार में लिया था तो श्रुत है शिष्ट प्रवाह के द्वारा श्रुत है लेकिन शिष्ट प्रवाह से सुनने के बाद भी वह सही सही समझ में कई बार होता है आप कहीं बैठे हुए हैं सुन रहे हैं कल जैसे एक आगे दिन में सर दर्द हमको इतना पैदा कर दिया पाठ पढ़ाते नींद आने लगी हमें भी अब वो आ गए आप सुन रहे हैं कि जी का प्रवचन रविशंकर का प्रवचन सुन रहे हैं क्या करें और दोनों की बात और उनके दिमाग घूम रहा था और हमारे दिमाग घुमाने आ गए अब ऐसा ऐसा प्रश्न है कि पूछे हम क्या जवाब दें उसको और ये भी नहीं जानते वेदांत की और सुन रहे वेदांत सीधे ही उन्होंने कह दिया अरे तुम ब्रह्म बात खत्म हो गई और क्या है अब क्या करे बेचारा वो बोलते तो मैं ब्रह्म एक कैसा होगा महाराज अब उनसे तो पूछ नहीं सकता था वो बड़े लोग हैं उनके शिष्यों से पूछा तो वहां समाधान नहीं हो पाया फिर किसी को पकड़ के हमारे पास आया तो हमने अनेक दृष्टान्त मेरा धीरे धीरे धीरे समझा समझे थक गया था कि बस यहाँ पाठ नहीं पढ़ा पाया तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं सुनने के बाद भी ऐसा संशय उत्पन्न हो जाएगा कि असंभव जैसा आपको लगेगा तो एकदम कभी वेदांत पर जाए एकदम गृहस्थी में आ जाए फिर वेदांत में फिर गृहस्थी में बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके रूप है मैं पिता हूँ मेरे बच्चे हैं मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसके वो भी है ठोस बैठा हुआ है वासना अंदर और ऊपर से तुम ब्रह्म कह दिया तुम मुक्त कह दिया अब क्या करें और बेचारा फंस गया मैं रास्ता जीवन मुक्त हूँ कि गृहस्थ हूँ कहा हूं मैं वो अपने आप की स्थिति को आंकलन नहीं कर पाया बड़ा परेशान हूँ तो इसलिए ये सब चीजें जो है ना सुनने के बाद शौनक जैसे भी महाग्रत भी था ना महाशाला इसलिए इनके अंदर भी सुनने के बाद यदि शंका यदि है और उसके बाद पूछा जा रहा है तो उसे कोई संशय नहीं कसमिन कान में कोई आपत्ति इसलिए नहीं है अक्षर बाड़ी याद अधिक आयास भीरुत्वात आयास भीरुत्वात की एक तो और कारण बता रहे कि आयास भीरुत्वात यहाँ इनका तात्पर्य है प्रयत्न विशेष की भी अपेक्षा है इसको जानने के लिए कि शिट प्रभाव सुन लेने से काम चलेगा नहीं यह लौकिक सामान्य प्रभाव क्या है जान लेने में से काम चलता नहीं है इसके लिए विधिवत जाना और गुरुकुल में रह करके किसी के शरण में रहकर उनके कहे नियमानुसार जीवन यापन करते हुए इसको पूछते पूछकर जानना चाहिए आयास की अधिकता की अपेक्षा आती है इसको ही प्रकट करने नु ऐसा प्रश्न डाला गया है संभवत्य कस्म विज्ञात है सर्व इत्यादि थी टिप्पणकार कहते हैं अस्यारे प्रश्न से अस्तित्व प्रश्न गर्भत्व अनपायाल यदि भाव सब पंक्तिम सात नंबर तो जवाब में उन्होंने क्या कहा सीधा नहीं कहा अमुक को जानने पर ब्रह्म को जानने पर तुम सब कुछ को जान लोगे ऐसे नहीं कह रहे किंतु कहते क्या तस्मय सह वाच देव्यविदो वदंती कहते तस्मय शौनकाय स्वांगिरा खिला वाच देविद्य वेतव्य इस संसार में दो प्रकार की विद्या है जो वास्तव में जानने योग्य है ऐसा कौन कहता है इतिहास मयत ब्रह्म विदो वदंती इस प्रकार से ब्रह्मवेताओं ने स्पष्ट ही कहा है कि जानने योग्य विद्याएं दो तो ही हैं एक का नाम परा और दूसरी का नाम अपरा धर्मार्थ संबंधी विद्या को परा और धर्माधर्म संबंधी विद्याओं को तत्साधनादियों तो को अपरा विद्या कहते हैं तस्मय शवन का अंगिरा किला हुआ अच्छा उस शौनक के लिए अंगिर नामक वह महर्षि ने यह प्रसिद्ध कथन किया पीछे थे क्या कहे वो द्वे विद्य वेदार्थ विज्ञा परमार्थ दर्शन वदंती एवं अस्म इसी प्रकार से निश्चित रूपेण निश्चित करके ही ये ब्रह्म विदा यहाँ दो कर रहे ब्रह्म शब्द का एक पक्ष में वेद है ब्रह्म विद में वेद विदा सगल वेदों की ज्ञाता वेदार्थ अभिज्ञा वेदार्थ के अभिज्ञान लोग अभिज्ञान मैंने विशेष रूप में जानने वाले लोग है दूसरा ब्रह्मविद मैंने ब्रह्म से परमार्थ शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म दर्शन हो परमार्थ दर्शन हो अथवा जो परमार्थ दर्शी है वे भी कहा करते हैं कहते कौन है वेदान इत्याह पराच परमात्म विद्या अपराच धर्माधर्म शांत फल विषय धर्म धर्म उनके साधन और फल संबंधी जो कथन है वो तो सब अपरा विद्या है तो विचार होगा तो कहेंगे महाराज क्या जवाब दे दिया पूछा क्या था कहा कुछ और आरंभ कर दिया पूछा क्या था वह उस तत्व को हमें बताओ जिस तत्व को जानने से सब कुछ जान लेंगे और जवाब दे रहे भाई दो प्रकार की विद्या है जानने की समझो एक का नाम परा है दूसरा का नाम परा है ये क्या कथा आरम्भ हो खा के कहा चले गए आप इसलिए पूर्व कस्मिन वित्तीय सर्वित भवती शवन ज्ञान पृष्ठ तस्मिन वक्तव्य अपृष्टम न राज्य विद्या इत्यादि शौनक के द्वारा पूछा गया था विधि थे सर्वित होती और लेकिन वो जवाब देना चाहिए वही कथन करना चाहिए था लेकिन अपृष्टम माह अंगिरा और अंगिरा ने क्या किया न पूछी हुई बात करने लग गए क्या देवी देविद्य इत्यादि नहीं सदोष ऐसी बात नहीं क्योंकि लोक में भी देखने को मिलता है कभी कोई बात पूछता है तो अच्छा कोई बात ठीक है आपका संशय है लेकिन शुरू क्या करेंगे सुनो पहले कहानी नहीं एक कहानी सुनाई क्यों अरे प्रश्न जो पूछा गया सीधा जवाब दे देते नहीं सीधा जवाब दे उसके अक्ल में जाएगा थोड़ा उसको कहानी के द्वारा समझाना आप भीष्म पिता महा को देखेंगे सुंदर पर्वों में से है महाभारत में युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं प्रश्न का जवाब सीधा नहीं देंगे अरे भाई तुम्हारे वंश में पहले अमुक आदमी हुआ था यहाँ का राजा था उसकी इतनी रानियां थी उसका ऐसा ही बेटा हुआ क्या पूछ पूछा क्या और बोल क्या रहे कहानी कहानी बोलते बोलते सारे प्रश्न जवाब उसके अंदर ऐसे निहित कर देते थे अंत में कहते इसलिए देखो तुम्हारे प्रश्न का ये जवाब है आसानी से समझ में आया हमेशा ही ऐसी परिस्थितियां कब हुई थी कैसी हुई थी उसका समाधान कैसे किया गया था और वर्तमान में उसी प्रकार का संशय हुआ है उसी प्रकार का जो समस्या खड़ी है उसका समाधान उसी प्रकार से किस प्रकार किया जा सकेगा ये समन्वय करने के लिए पूर्वोत्तर संबंध जोड़ना की आवश्यक होता है नहीं से दोषा क्रमापेक्षता प्रतिवचन सीधा सीधा सूत्र लिख दिया भाष्यकार ने यहाँ क्रमापेक्षता प्रतिवचन हमेशा ही प्रतिवचन जो होता है क्रम की अपेक्षा आप उछलते हुए कहीं का प्रश्न गम टॉप का पूछ लो और हो का खुद बहुत नीचे तो सब क्रम से तो समझाना पड़ेगा सुने सुनाई बात के आधार पर आप बहुत ऊंची बात पूछ ले आपकी अकल में तो जाना है नहीं वो अगला समझ रहा है इस बात को भाई इसकी अकल में तो बात जाएगी ही नहीं पूछ तो रहा है सुने सुनाई बात के आधार पर फिर इसकी अपनी सोच समझ की क्षमता अपनी आध्यात्मिक स्थिति में जो पहुंच है वो तो कितनी है अगला समझेगा जो वो सीधा जवाब देगा वो तो क्रम के क्रमशः चलता है क्रमशः एक एक सीढ़ी उठाते हुए जाएगा कहा तक जाओगे आप अंत में उसको समझ में आएगी भाई हम यहाँ है अमुक स्थिति पर है उसी के आधार पर आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकते इसे क्रमापेक्ष प्रतिवचन से अपराही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्य क्योंकि पहले हमें ये शिक्षा आपसे देनी पड़ेगी जो अपरा विद्या कही जा रही है नाम रखा मैं विद्या इन वास्तव में है क्या वो अविद्या है सा निराकर्तव्य वह उसका निराकरण करनी ही चाहिए तद विषय विदित इसलिए उसके विषय को जानना जरूरी है हमें किसको त्यागना है इसको जानना पड़ेगा उसको जानने के लिए हमें अपरा विद्या को पढ़ना पड़ेगा तो त्यागेंगे किसको हम जानते ही नहीं किस किस चीज को हमें त्यागना है सीधा कर्म ज्ञान कैसे होगा ये त्याग नहीं अमृत मानस हूं और त्याग करने के लिए हमें अपर विद्या को जानना पड़ेगा तो अपर विद्या का जो विषय है उसी को हमें त्यागना इसलिए कहते हैं तद विषय ही नहीं थे न किंचित तत्व क्योंकि उस अविद्या का विषय को जानने से वास्तव में आपने कुछ भी नहीं जाना क्योंकि जितना भी अविद्या का विषय क्या है परिकल्पित है मिथ्या है मिथ्या वस्तु को जानने से क्या बड़े ज्ञानी हो जाओगे मिथ्या वस्तु जितनी भी है इनको आप जितना भी आप जान लीजिएगा फिर भी हम उसको ज्ञानी नहीं मान सकते इसलिए कहते हैं बड़े लोग जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म आरंभ होता है there science end there business spirituality इसलिए कहा गया ये भौतिक विद्या जितनी भी है यह अपरा विद्या है भौतिक कहने से यह लोग परलोक सब कुछ को प्राप्त कराने वाले साधनों में सहित हो ये नहीं समझना कि कर्म कारण भौतिक विद्या नहीं है ये जो आज के विज्ञान है इसी का नाम भौतिक विद्या ऐसा नहीं है जो कर्मकांड को कथन करने वाला भी स्वर्गालियों के साधन को कथन करने वाला भी वह समस्त विद्याएं क्या है अविद्या ही है इसे कहते अविद्या का विषय जो भी होगा उसको जानने से न किंचित तत्व तो किंचित अपनी कहा आप नहीं जान सकते हैं इति निराकृत्य ही पूर्व पक्ष एकादशी पूर्व पक्ष में स्थित उन तत्वों को निराकरण करने के पश्चात सिद्धांत वक्तव्य भवती सिद्धांत कहनी चाहिए इति न्यायात इस लोक व्यवहार का ही न्याय को देखते हुए तर्क आधार पर यहाँ पर विशेष कथन किया गया है विज्ञान वस्तु विषय क्योंकि नहीं तो भ्रांति होगी ना लोगों को भाई लौकिक जो विद्याएं हैं वही क्या है अविद्या है और जो शास्त्रीय विद्याएं हैं वो तो विद्या है ऐसा कोई निग्रहण कर सकता है उसका निराकरण करने के लिए ही ये विभाजन करना जरूरी हुआ अपरा विद्या पराविद्या ताकि अपराविद्या के केंद्र दिखाना चाहेंगे वो जो कुछ भी आप उस आत्म तत्व संबंधी विद्या को छोड़कर जो कुछ भी विद्या है सारी की सारी चीजें अपर विद्या कोटि के अंतर्गत ही है कल्प सूत्र ग्रंथ अनुष्ठे क्रम कल्प वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ पराया तदक्षण अधिगम्य दे इनमें जो अपराध क्या कौन है ऋग्वेद है जो की तैल महर्षि किसका संरचिता है विशेष रूपेण यजुर्वेद का जो परंपरा का आरंभिक गुरु ऋग्वेद हो गया पैल यजुर्वेद याज्ञ सावेद जेमिनी अथर्वेद सुमंतो शिक्षा ग्रंथ हो गया कात्यायन आदियों के द्वारा कल्प ग्रंथ भी कात्यायन आदियों ने बनाया है कात्यायन शिक्षा भी है कात्यायन शौद सूत्र भी है व्याकरण हो गया पाणिन्यादि निरुक्ता यादकारी छंद पिंगलादि ज्योतिषम सूर्यादि छंदों पे चतुर्वेद का वर्णन कर दिया छह है ना शिक्षा कल व्याकरण छंद ज्योतिष ये छह है इन अंगों से अंगी ऋग्वेद समय और अथर्वेद ये सब क्या है अपरा विद्या अथ परा ऐसे भिन्न जो दूसरा है और अविद्या क्या है ये आत्मक्षरम अधिगम्य थे जिन जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ग्रहण हो सकता है उसका नाम पराविद्या या कल्पा के ऊपर टीका था कल्पा में सूत्र ग्रंथ का नाम कल्प सूत्र कल्प सूत्रों को सूत्र ग्रंथों को कल्प कहते अनुष्ठेय क्रम कल्प क्यों अनुष्ठेय क्रम का जो निर्णय करता है उसी का नाम कल्प है अविद्या एवं पर प्राप्त उपचरते अविद्या के अपगम को लेकर के ही जो ब्रह्मविद्या को परा करके भी कहा जा रहा है पर प्राप्त उपचरित इत्यादि इतना ही विशेष वाटिका में था और कुछ यह वेद माया स्मृतिया चकाचको दृष्टि सर्वास्था निश्वला तमो निष्ठा तमोनिष्ठा स्मृता इत्यादि स्मृतियों में प्रमाण दिया जो इनसे अतिरिक्त विद्याएं है वैसे वेद बाह्य है जो भी स्मृतियां वेदवाही स्मृतियां हैं वेदवाही विद्या है जो कुछ भी आप कहते वो सब क्या है कुदृष्ट वह आपके मार्ग में कुछ सहयोग देने वाले भी नहीं है वो अवनति का ही कारण बनने वाले आप स्वर्ग के लिए या करते तो वो आपके लिए खराब नहीं है चलो स्वर्ग जा करके समझ में आएगी वहां से लौटे हुए तो कि पहचान बताए शास्त्रकारों ने स्वर्ग से लौटे हुए आदमी नरक से लौटे हुए आदमी में क्या फर्क है कोई व्यक्ति को देख करके आप निर्णय कैसे लेंगे ये स्वर्ग से आया है या नरक से लौटा है कहाँ से लौटा है लौटता है उसके अंदर सभी सदगुण होते हैं और विवेक अधिक होता है जब नरक से लौटने अवतार होता है उसके पूरा ही तलब होता है और रजगुण और सभी असत गुण जो दुराचार है वो उसके अंदर मिलेगा इन बाहर से दोनों ही मनुष्य बाहर से दोनों एक जैसा लगेंगे बाहर से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको स्वर्ग से आया हुआ या नरक से आया हुआ जो व्यवहार के धरातल पर उतर आएंगे आप व्यवहार करने लगेंगे तो पता लगता है इस व्यक्ति के अंदर क्या ये कहा से आया हुआ है उसकी वासनाओं को देखो उसके संस्कार को देखो उसके व्यवहार को देखो उठना बैठना बोल चाल को देखो सिखा दो उसको उठना बैठना तो भी वो सीख नहीं सकता संस्कार ही ऐसा जितना प्रयास कीजिए शिक्षा देने को वो शिक्षा सीख भी लेगा और मजबूरी के कारण से वैसे एक्टिंग भी कर डालेगा फिर वो एक्टिंग ही रहेगा वास्तव में उसके अंदर सुधार नहीं हो सकता हमने अपने गुरु आश्रम में भी देखे हैं कितने महात्मा बनने आ जाते थे और कभी कभी अकेले में जब बैठते तो गुरु जी बोलते थे हमसे देखो अमुक अमुक है ना उसको हमने आया है तो संन्यास तो दे दिया है थोड़ा ध्यान रखना खतरा है अच्छा अगर महाराज ये कैसा है हमको वो खतरा महसूस हो रहा सुधर जाएगा है तो अति गर्भ सुधर जाएगा तो ये है ना कभी नहीं सुधरेंगे इनको पूरा कंट्रोल में रखना पड़ेगा नहीं तो पूरा आश्रम को खराब कर देंगे बदनाम कर देंगे इनसे तो बच के रहना है अच्छा ठीक है पर हमें पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है जो उठना बैठना खाना पीना कहाँ कहाँ जा रहे कितना बजे उठते कितना बजे सोते किसके पास बैठ रहे हैं किससे बात कर रहे हैं और ड्यूटी देते हुए सोच के जो खड़क वाला उसके साथ उसको ड्यूटी देना पड़ता था भाई किसी सिवा उनके साथ है अब वो तो बात करके फटकारेगा दगा के रखेगा वो जगह ठीक है उसकी और सुधरने की संभावना है उसका तो नरम न गरम ऐसे देना पड़ता था तो सोच रहा हो तो नरम के साथ ही रखो क्या फर्क पड़ना है बड़ी व्यवस्था संभालने देखे तो बड़ा ग्रह गृहस्थी अच्छा थे तो बेकार लकड़े फंस गए यहाँ बहुत बबाल है यार आश्रम संभालना सारा दुनिया का कचरा आश्रम में आता है अच्छा कम आता है अच्छा तो बहुत कम आता है कचरा ज्यादा आ जाता है वो मुश्किल हो जाता है संभालने में और सब सफाई करना और उनको ठीक से सेटिंग करना कोई कचरा लेकिन दुनिया को पता नहीं कचरा है ये भी तो करना पड़ेगा ना टेस्टिंग ऊपर से करनी पड़ेगी तो दुनिया को लगे कि कचरा नहीं ये भी साधु है ऐसे उसको जो है ऊपर से रंगे रोगी चढ़ाना पड़ता है हिसाब से मेंटेन करना पड़ता तो है दुनिया में ना बदनामी हो जाएगी नहीं तो भैया अमुक आत्मा का साधु ऐसा है मुश्किल है ना इसे बाहर से उसको पूरा निपा पोती सेट करना पड़ेगा ताकि तो दुनिया में लगे कि हाँ ये भी साधु अच्छे आश्रम में सब साधु अच्छे हैं जो लोग ऋषि आश्रम में आते शुरू में क्या सोचता अरे क्या तपस्वी होंगे कितने बड़े ज्ञानी होंगे कितने अच्छे अच्छे होंगे और धीरे धीरे जब घुसते हैं तो आपकी वैराग्य की अपराध खत्म हो जाता है <laughs> तो देखते हैं ऐसा भंडारा ही है भंडारे में आत्मा ही जाता है तो इसलिए कहते ये सारी चीज जो है ना ये सब वेद बाय स्मृतियों का अनुसरण करने वाले लोगों का हाल है ये सब कुदृष्टिया है सर्वास्था निष्फलाग्नि वे सभी के सभी क्या है निष्फल होते हैं तमोनिष्ठा हिता स्मृता वे सब तमोनिष्ठ है ऐसे समझाओ इसे इनको त्यागना चाहिए उन स्मृतियों को और वेदांतर्गत आवर्ती जो विद्या है वो भी त्याज्य है या तो वेद वायु को गिनाया ही नहीं वेद और वेदांतरवर्तियों को ही गिनाया चारों वेद और शरणों को इसलिए वेद वायु का स्मरण ही नहीं कर रहे यहाँ पर क्योंकि वो तो सदा सदा के त्याज्य है ही अत्याज्य तो भ्रांति जिसमें होती है उसी को यहाँ समझाने के लिए उठाया गया है कि ये भी वास्तव में त्याज्य सब का नाम गिनाते तो वास्तव में अत्याज्य करके सभी को सामान्य रूप में ज्ञात है उसका कथन कर ही नहीं रहे हैं लेकिन लोगों में जो सामान्य में भ्रांति होती है चार वेदों में तदंगों में कि ये सब ग्राही है त्याज्य नहीं है तो उस भ्रांति को निवारण करने के लिए अपराध त्याग के सबको लेकर के कह रहे हैं ये सभी के सभी कर्म और उपासनाएं आपको केवल घुमाने फिराने वाले चक्करों वाला है ये अंत अत ये सब त्याजीन है इस बात को समझाने अपराध कोटि के अंतर्गत षडंगोपेद वेदम को लिया गया है अपराधित इच्छत अपरा विद्या कौन सी है उन दोनों में से यह जिज्ञासा होने पर कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद ये चारो वेदा ये चार क्या है वेद है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदो चतुष्मिति अंगानी षडेशा अपरा विद्या शिक्षा कल्प क्योंकि शिक्षा पे और करादि वर्णों के स्थान प्रयत्न करुणा इत्यादि अनेकों चीजों को याज्ञवल्क्य भारणीय वाशिष्ट कात्यायन अनेक शिक्षा ग्रंथों के द्वारा ज्ञापन किया गया है कल्प जो आपने देखा था कल्प सूत्र तो पूर्व पृष्ठ में बताया था टिप्पण वहां पूर्व पृष्ठ में गया ना इसका आनगिरी टीका कल्प सूर्यगंध अनुष्ठे क्रम कल्प ये कहा था वो कल्प व्याकरण तो आप जानते ही है निरुक्त निरुक्त के इसी पन्ने में नीचे टिप्पण में दिया है वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो धातुस्तर्तातिशीन योगस्तुच्यते पंचविधम निरुक्तम वर्ण के आगम वर्ण के विपर्य वर्ण के विकार और वर्ण का नाश और धातु इनके आर्ताभिषेक के द्वारा उनकी यौगिक आपत्ति का वर्णन करने का नाम ही निरुक्त है और छंदा छंद जिसके बारे वर्णन पिंगल महर्षि ने किया है पैंगलीय छंद शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है जो कि गान का या श्लोक इत्यादियों का जो वृत्त है जो लाभ है कितने अक्षर होने पर और अक्षरों का विन्यास भी कैसे होनी चाहिए लघु गुरु गुरु लघु वगैरह की व्यवस्था उसके लिए सप्त गण की व्यवस्था दे करके उन्होंने वर्णन किया वो जो चीजें वो छंद शास्त्र है ज्योतिषम ये भी सब लोग जानते इसमें भी दो हिस्सा है एकांक ज्योतिष और दूसरा फलित ज्योतिष अंक ज्योतिष तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं लोग क्योंकि वो साधारण गणित है गणित के द्वारा उन्होंने बता देना है कुंडली बना करके दे देंगे सारे गणित रहेगी सात चक्र होंगे लेकिन फलित जो ज्योतिष है वही सबसे बड़ा कठिन है ज्योतिष में कठिन है फलित वो भी छटांग है इति अंगानी षडेशा ये इति अंगानी छठ ये छह अंग है ऐसा अपराविद बस इसी का नाम अपराविद्या है छह अंग से युक्त चार वेदों को मिला करके क्या कहते हैं अपराविद्या अत इधानीम इम पराविद्या उच्चते मया यया वक्ष्यमाण विशेषण अक्षरम अधिगम्य प्राप्त अथ मैं इधानी उसके अंतर अपराविद्या कथन करने के अंतर इस समय मैं तुम्हें तो यह पराविद्या को कथन करूंगा जिसके द्वारा यह जिसके द्वारा क्या होगा तत्व जो वक्षमान विशेषण वाला जो अक्षर तत्व है उसका बोध हो जाएगा अधिगम्य थे अधिपूर्व से गमे है प्रायश प्राप्त अधिपूर्वक गम धातु का प्रायश अर्थ होता है प्राप्त न पर प्राप्ति अवगमार्थ भेद अस्थित पर प्राप्ति और अवगमन इन दोनों अर्थ में वो कोई खास भेद नहीं है विद्या के अंदर आवरण भंग करते हुए वस्तु का साक्षात्कार करना ही पर प्राप्ति है यहाँ यही जीव का ब्रह्म रूप को और गमन करना भी है इसलिए अधिगमनम और प्राप्ति यह दोनों ही एक अर्थ वाला ही बन जाता है तो अप्राप्त का प्राप्ति या अगम्य का गमन या गम्य गमन भी नहीं है यहाँ किसी प्रकार का भी स्तर का गमन वास्तविक नहीं है इसलिए यहाँ गमन सभी ज्ञान अर्थ ही लेना पड़ेगा गम धातु जितने भी गत्यर्थ धातु होते सामान्य अर्थ पड़े तीन अर्थों को बताते नहीं गति ज्ञान में अंतर क्या गति गमन बिहार नहीं सब का हम्म, गलत प्रयोग कर रहे हैं प्राप्ति गत्यर्ता जबकि है प्राप्ति है और गति है तीन अर्थ वाले होते हैं जितने भी गमनार्थक धातु है जबकि मने ज्ञान प्राप्ति मने प्राप्त करना और गति मने गमन करना इसलिए यहां गम धातु का अर्थ हम लोग ज्ञान अर्थ ही ले लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसलिए पार प्राप्ति अवगमार्थ भेदो नास्ती इसलिए कर दिया परव की प्राप्ति करना और अवगमन इन अर्थों में इसलिए हम कोई भेद मानते ही नहीं अविद्या निवृत्ति के उपलक्षित स्वरूप साक्षात्कार करना ही यहाँ प्राप्ति है इसलिए अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है आवरण का निवृत्ति पूर्वक स्वरूप अनुभूति ही या प्राप्ति मानी जाएगी और तार से उसको प्राप्ति क्यों कहते हैं क्योंकि आवरण निवृत्ति जन्य वस्तु है आवरण निवृत्ति है जन्य है ना आप अपने जो है अभ्यास के द्वारा आवरण को निवृत्त कर लिया वह जन्य होने से स्वरूप प्राप्ति स्वरूपानुभूति को हमने प्राप्ति शब्द व्यवहार कर रहे हैं अविद्या है आपा ये वही पर प्राप्त न अर्थांतर भाषिका स्पष्ट करते हैं अविद्या अपाय अविद्या का निवृत्ति को ही पर प्राप्ति करके कहा जाएगा इन दोनों अर्थों में कोई भेद नहीं न अर्थांतरम कोई अर्थांतर नहीं वस्तुअंतर नहीं है कि अविद्या की निवृत्ति पर की प्राप्ति दो भिन्न वस्तु है ऐसा न समझे पूर्व पक्षी कहता है आपने चारों वेदों को तो गिना दिया ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद के इन वेदों से बाहर है इन गाथा परा इनसे भिन्न दूसरा का नाम परा है अर्थात उपनिषद को ही पराविद्य जो पराविद्य उपनिषद है ये अप्रामाणिक है तो वेद भाई है संगो वेद वेद के भाई वस्तु हो जाएगा क्योंकि उसको तो तत्सहित उपनिषद सहित वेद जो था उसको तो हमने अपराध गिन लिया और जो परावित जिसको आप किनारे उपनिषदों को लगता है इसका मतलब वेद से भाई होगा अतएव अप्रामिक है ये पूर्व पक्षी कहता है ननो ऋग्वेद आदि बाह्या करी सा कथम परा विद्या सियात मोक्ष सागर फिर ऋग्वेद आदि होंगे बाह्यवत पदार्थ माननी पड़ेगी उन उपनिषदों को जो ब्रह्म तत्व के बारे में कथन करते हैं और ऐसी विद्या को जो वेद बाह्य विद्या है उसको आप परा विद्या संज्ञा दे रहे हैं और उसको मोक्ष साधन मान रहे हो यह कैसे हो सकता है कथम मैंने असंभव है ऐसी विद्या तो परा नहीं हो सकती जब बाई है वह तुच्छ होगी असत होगी और मोक्ष का साधन नहीं होगा और नरक का साधन जरूर होगा यह वेद बाई स्मृति स्मरण दी इसलिए स्मृतिकारों ने कहा ही है जो वेद बाई वस्तु है वह सब कुदृष्टिया है कुदृष्टित्व निष्फलत्वाद अनादया क्योंकि कुदृष्टि रूपा है और निष्फला में है इसलिए उनको आदान मन ग्रहण कभी करना ही नहीं चाहिए तो उपनिषदांच ऋग्वेद बाह्यत्म शांत और सकल उपनिषदों का मानना पड़ेगा ऋग्वेद आदि से बाह्य है क्योंकि आपने ऋग्वेद आदि हमको अपराविद्या में लिया है जिन उपनिषदों का पराविद्या कर इस ऋग्वेद से अलग कर रहे हो वे ऋग्वेद आदि से बाह्य जरूर हो जाएंगे ऋग्वेद आदित्य तो पृथक करणम अनर्थकम यदि ऋग्वेद आदियों के अंतर्गत उसको लेते हो तो पृथक रहा नहीं क्या अपराध से भिन्न पर से मिलेगा वो अपराध के अंतर्गत ही हो जाएगा ना ऋग्वेद आदि के अंतर्गत उपनिषद लोगे तो अपराध के अंतर्गत ही हो जाएगा उससे भिन्न प्रभावित रूपेण उपनिषदों का ग्रहण नहीं कर पाएंगे इसलिए पृथककरण व्यर्थ हो जाएगा अथपरा इति इस प्रकार से पृथककरणम इसे अथपरा इति कथम कहीं पीछे कथम लिखा है अतः कथम पढ़ाई थी इसलिए होना चाहिए लेकिन अतः पढ़ाई थी कथम ऐसा होना चाहिए अतः पढ़ा इत्यादि जो मंत्र में कहा गया ये कैसे कह दिया गया है उचित नहीं है ना तो सिद्धांत कहते हैं ऐसा आप शंका न करें वेद्य विषय विज्ञान सेवक बात ऐसा है यहाँ पर वेद्य जो विषय है उसको लेकर के उस विषय विज्ञान को लेकर के यहाँ पर हमने पृथक कर्ण पूर्वक कथन नाम संज्ञा मात्र प्रयोग कर दिया है वेद्य विषय विज्ञान से व्याख्या करेंगे उपनिषद वेद्य है अक्षर विषय उपनिषद वेद्याक्षर विषय ही विज्ञानम यह विद्या प्राधान्य न उपनिषद शब्द राशि हमें शब्द राशि को लेकर हमने विद्या अपरा विद्या कर विभाग टुकड़ा तो हम नहीं कर रहे हैं विज्ञान को लेकर कर रहे हैं अपरा हम उन चीजों को ले रहे हैं वेद और वेदांत हम उन सगल पदार्थों को ले रहे हैं छड़ों से युक्त होकर जो बंधन का कारण है और विद्या से उन सकल वस्तुओं को लेंगे जो वेद और वेदांगों में रहने वाला उन सारी चीजों को ली जाएगी वेदों को में और वेदांगों में भी जो कुछ भी मोक्ष के अनुरूप अक्षर तत्व के अनुरूप कहा गया है उन सारी चीजों को हम लेंगे इसे दोनों ही वेदांत रहती है अपराधी पराध इसे ऋग्वेद आदि करके तो अपराध गिनने मात्र से ये ना समझे कि उपनिषद भी उसमें चले गए नहीं विज्ञान दृष्टिया हम क्योंकि जो व्यवहार यहाँ पर हो रहा है भेद का विद्या में जो भेद व्यवहार है वो विज्ञान और उस विज्ञान का फल को लेकर के हो रहा है अक्षर समूह को लेकर के नहीं वेद रूपी जो शब्द राशि है उस शब्द राशि को हम अलग नहीं कर रहे हैं इसलिए उस शब्द राशि के अंदर उपनिषद भी आ गए ये जो शंका है पूर्व पक्षी का वो उचित नहीं है क्योंकि यहाँ जो विभाग है शब्द राशि को लेकर के नहीं है विज्ञान विशेष को लेकर के जिसे कहते हैं उपनिषद वेद की जो अक्षर विषय का विज्ञान है ना उसी को यहाँ परंपरा विद्या करके व्यवहार कर रहे हैं यदि प्राधान्य निरक्षित प्रधान रूप से वही विवक्षित है न उपर शब्द राशि ही उपरिषद शब्द के द्वारा वह शब्द राशियों को भी ग्रहण करना है जो कि गौण है इसी प्रकार वेद शब्द तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता और वेद शब्द के द्वारा तो सर्वत्र क्या है शब्द राशि विवक्षित हुआ करती शब्द राशि दिगमे पी इन दोनों में फर्क क्या है उनमें शब्द राशियों में कर्म और उपासना संबंधित शब्द राशि और ब्रह्म संबंधी जो शब्द राशि है इन दोनों में क्या फर्क है वो बताने जा रहे हैं बहुत ही विलक्षण बात है कहेंगे यदि वास्तव में अपने उपनिषद को समय प्रकार श्रवण करते हैं तो साथ साथ मोक्ष हो जाता है मन निध्यासन वगैरह सब हो जाएगा अलग कुछ नहीं करने की जरूरत ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी हो उपनिषद सुनने की भी जरूरत नहीं होगा हम ब्रह्मास्त्र कह देगा गुरु और चेला का काम हो गया पूरा उपदेश के अनुमुख से श्रवण करने की देरी होती है न पढ़ने की जरूरत न कुछ करने की जरूरत लेकिन कितने जन्म पढ़ पढ़ के उस स्थिति में आया है ये कहना मुश्किल है कई जन्म लग जाते हैं भोजना भोना जन्म ना बनते बहुत जन्म पढ़ा लिखा पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते ऐसा परिपक्व अवस्था में पहुंचा है तो ऐसा कोई जन्म होगा जब गर्भ में रहते वक्त उसके माँ ने सुन लिया तो उसका काम हो गया वो भी हो सकता है घर में रहते वक्त ही माँ ने वेदांत सुनते सुनते उसके हम ब्रह्मास्मी शब्द उसके कान माँ के कान के द्वारा गर्भ में चला गया तो में व्यक्ति मुक्त हो जाएगा बाहर आने के बाद की बात तो दूर की अंदर में रहते व्यक्ति हो सकता है नहीं वो परिपक्व अवस्था प्राप्त हो तो उस दृष्टिकोण से भाषकर कहते हैं दोनों शब्द राशि में अंतर क्या कर्म रूपासना संबंधी जो शब्द राशि है और जो आत्म संबंधी ब्रह्म संबंधी जो शब्द राशि है इन दोनों शब्द राशि में अंतर क्या है शब्द राशि अधिगमे भी यत्नांतरम अंतरेणा गुरु गमनाद लक्षण वैराग्य न अक्षरादि का संभवती पृथक कयाम प्रविद्या परा विद्य कथम चीति कथन ची शब्द राशि का अधिगमे भी यत्नांतरम अंतरेणा ये फर्क कर्मकांड और उपासना कांड के शब्द राशि में क्या है यत्नांतर की अपेक्षा है आपने पढ़ लिया वेदों को जैसे आपने विमान शास्त्र में सुन लिए अग्निहोत्र कैसा होता है कौन सी आग कैसे होता है सारा आपने सुन लिया सुनने मात्र से हो गया क्या यज्ञ अंतर की अपेक्षा है और फल भी यत्न की आगे पूर्व उत्तर का मिलने वाला नहीं है व्यवहित का तो शब्द राशि के ज्ञान के अंतर शब्द राशि के लिए जितना आपने यत्न किया उस यत्न से यत्नांतर भिन्न प्रयत्न कर्म के स्वरूप निष्पादन करने के लिए आपको करना होगा और कर्म निष्पादन के अंदर फलानुभूति के लिए फल प्राप्ति करने के लिए भी अनेक समय तक काल की जो है प्रतीक्षा करनी पड़ती है लेकिन यहाँ शब्द राशि का द्वारा अर्थ ज्ञान होने के पश्चात यत्नांतर की अपेक्षा नहीं कालांतर की प्रतीक्षा भी नहीं तत्काल ही यत्नांतर के बिना ही शब्द शार्थ के श्रवण के लिए जो यत्न किया उसी यत्न मात्र से मुक्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं यत्नांतर अंतरेण मानी यत्नांतर के बिना गुरु अभिगमनादि लक्षण वैराग्य गुरु अभिगमनादि रूप जो विधिवत प्रसन्नता और वैराग्य विधिवत उपसत्ति विवेक वैराग्य संपत्ति संयुक्त व्यक्ति को यंत्रेण नाक्षराधिगम असंभवती क्योंकि शब्दराश अधिगम में आप अपी कह दिया नाक्षराधिगम असंभवती पृथक पृथक करणम ब्रह्म विद्या इसीलिए पृथक करण कर दिया गया ब्रह्म को पराविद्या नाम से ये नहीं करते थे तो वहां जैसे यहाँ हो जाता ना सब इसलिए ना संभव थी पृथक करण इसलिए पृथकरण करना पड़ा अर्थात के विपरीत लोग वहाँ यत्नांतर की अपेक्षा है कालांतर प्रतीक्षा भी अपेक्षित है और यहाँ यत्नांतर की अपेक्षा नहीं कालांतर प्रतीक्षा भी नहीं है ये बात को ज्ञापन करने के लिए उससे और इसको अलग कर दिया नहीं तो वहां जैसे आप यहाँ भी रहे थे वहां भी पढ़ने के बाद बहुत प्रयत्न करना पड़ा कर्म स्वरूप का निष्पादन किया तो मरने के बाद स्वर्गादि फल मिली वैसे यहाँ भी लगा रहते उपनिषद पढ़ने के बाद बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेहनत करने के बाद मरने के बाद में जाकर के मुक्ति मिलेगी ऐसा अर्थ आप न ले इसलिए ही पृथककरण करना आवश्यक हो गया एक पृथककरण विद्या परा विद्या कथन इसलिए पृथककरण किया गया और कथन भी किया गया होता है शब्द राशि का अधिगम हो गया उसके स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी ये इतना अंतर में ना न संभव थी है ही नहीं उसी अगर आप देंगे यहाँ पर भी सब राशि होने पर भी यत्ना ग्रहण के बिना हो न संभवती ऐसा यदि किसी की भ्रांति हो जाए इति इसलिए ही पृथक पृथककरण हाँ, बार अहम ब्रह्मास्त्र कान में पढ़ने की अपेक्षा रह गया है इतना पहले से श्रवण मन निध्यासन अनेक जन्म कर चुका है ये अंतिम जन्म है जिसमें उसको शब्द आदि का मात्र से ही हो जाना है राम विश्व मिशन के स्वामी अभेदानंद जी और एक साथ ब्रह्मानंद जी करके दो हुए साक्षात शिष्य में से बारह में से रामकृष्ण के दोनों अंतिम काल बनारस में रहे तो वाराणसी में गए एक दूसरे का शरीर छोटने का समय आ गया वो इनको कहते हैं तुम सुनाओ ब्रह्मानंद जी अभेदानंद जी को बोल रहे अदयान जी कहते नहीं नहीं आप सुनाइए हम सुनेंगे आपसे कभी समस्या होगी यदि आप सुनाओगे हम सुन लेंगे और बाद हम सुना तो ही नहीं सकेंगे आपको हम मुक्त हो जाएंगे यदि हम सुनाएंगे आप सुन ले फिर आप मुझे नहीं सुना पाओगे समस्या तो ये है कि ये दोनों ही अभ्यास करके कितनी परिपक्वता के पहुंच चुके थे बस यही वाक्य एक दूसरे को गुरु मान करके उनको गुरुमुख